नहीं निकला था वह पूर्ण हो गया ये नहीं था ये नहीं है ये नहीं नहीं लेकिन है ये क्षण कैसे इसलिए सामवीर्य पवन कार्य शाखा के मदलकार ये शाखा के ब्राह्मण अंतर्गत जो है यह नवाध्यायी नौ अध्याय वाला शाखा है उसमें नवम अध्याय को आप पढ़ेंगे उपनिषद के रूप में जो सहस्र वर्तमा सामने तो एक हजार शाखाएं हैं सामने तो एक हजार शाखाओं में से जो है आप जो पढ़ने जा रहे हैं यह नवम अध्याय भाषा स्वयं कहेंगे यहाँ तो नवम अध्याय है इत्यादि जो है ब्रह्म नहीं नवकार शाखो पुष्पम तेज प्रमुखाम नवकार शाखो पुष्पम में जाने की स्पष्ट करें तब नवकार फलवकार शाखा केवल आरोप क्षेत्र इत्यादि ऐसे भाषा से लिखेंगे नवम अध्याय मैंने इससे पहले आठ अध्याय बीत चुकी है जिसमें कर्म और कर्मांग भूता और कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष दोनों प्रकार के उपासना का आठ अध्याय में विचार कर लिया गया था अब ये नवम अध्याय जो कि उपनिषद है ब्रह्म विद्या संबंधी अध्याय है इसलिए इस पर आचार सुनकर अपनी भाषा आरम्भ रहे हैं इसके मंगलाचरणों में दो श्लोक को मंगलाचरण में रखा गया है दो मंदिर शांत पाठ है ओम सहना से ग्यारह बजे दिन से जाता आरोप से चौवालीस इसके बोले बिना बिजली इसलिए पेंशन बार क्या कहा नौ और नौ बने हम दोनों हम दोनों कौन गुरु है अथवा अच्छा, जहां मान लो गुरु से भाव नहीं जैसे हम लोग ना हम गुरु ना कुछ हम क्या संजात्मा मानव गुरु है हाँ, की सृष्टि जरा हम जाना क्या वक्ता और वक्ता और इसलिए कहे हम दो कहें कौन लोग जहाँ गुरु शिष्य भाव से विद्यमान है गुरु शिष्य बोले और या गुरु शिष्य नहीं है तो वक्त और सूत्र भाव से दोनों हम दोनों सह अवतूर एक साथ हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें सारा इसी प्रकार हम दोनों का साथ साथ पालन हुए हम दोनों का पालन हुआ तो भोजन तो करो करो भोजन खाए साथ साथ भोजन खाए इसलिए गए तो भोजन नहीं चाहिए भोजन तो भोजन पालन है अब व्यवहार में नहीं कि मुझे विषय कर दिया खाना जो है हाथ तक नहीं है हाथ पकड़ रहेगा परसों तक कर दिया है इसलिए आप पालन अर्थ ही रहेगा भोजन अपने हम दोनों का साथ साथ पालन करेंगे सहनी करना हम दोनों ने जो कुछ भी पढ़ा लिखा है इस विद्या जन्य जो सामर्थ्य वह सामर्थ्य भी उत्तरोत्तर वृद्धि का संपादन करेगा विद्या खाया का मजबूत बन जाए ऐसा नहीं जरूर करती जो हम दोनों खाए पिए हैं तो इनसे जो वो वीर बहुत हो जाएगी ऐसा विद्या या विद्या के लिए सामर्थ्य है पुरुष स्त्री विद्या के लिए जो सामर्थ्य है वीर है हम दोनों के अंदर साथ साथ संपादन हो तेजस्वी नव अधिकम अस्तु नव अधिकम हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा हुआ है जो ज्ञान है अधिक ज्ञान है प्राप्त ज्ञान है वह तेजस्वी हो गए तो और भी तेज हो तो किसी भी कारण बस व्यावहारिक त्रुटियों को लेकर कार्यक्रम की वजह से भी गुरु के शरीर से वक्ता के शरीर से किसी भी प्रकार का व्यवहार में कमी देखी आ जाए उनको जो कहम दोनों को भी चुके परस्पर विद्वेश कभी डांट देना पड़ता डांट दिया गृह क्या माना है इधर दिशा करते करने से फैसला ऐसे भाव कभी ना और शिशु गड़बड़ कर दिया नहीं? तो कोई बात नहीं बच्चा है ऐसा मुझे माफ करना तीनों को परस्पर विद्वेश न करके जो है हम दोनों सम्यक प्रकार से अध्ययन करें और अभी प्रस्तुत के दुष्टा को तो प्राप्त हो और अगर हम दोनों का परस्पर रक्षा एवं पालन होती है इसके लिए हम त्रिविध पापों की शांति के लिए पूर्ण शांति रहती है पूर्ण शांति योग्य नहीं हो तो क्या है विद्या को धारण करने का दम भी तो चाहिए याद नहीं एक और विद्या का तो खोपड़ी में रहेगा धारण की शक्ति भी तो चाहिए धृति चाहिए धृति शक्ति है मेधा शक्ति वृद्धि शक्ति प्रज्ञा शक्ति स्पूर्ण शक्ति इतनी शक्ति है बुद्धि की वो है ही तो पूछो है कहाँ मेधा शक्ति देना भी कुछ भी छोड़ना खबर खबर चीज खबर ही शक्ति से जाता है शक्ति नहीं भी नहीं प्रज्ञा भी नहीं प्रज्ञा मान भी है समझा रहे हाँ, हाँ, करते रहते समझते क्या करते ये बाहर दो बाहर समझा क्या करें विचार कर रहे हैं तो लिखना तो तो भी पूरा नहीं होता तो समझना भी जरूरी है लिखने में भी अभी उनकी हस्त संस्कृत भाषा को लिखने की क्षमता नहीं इंद्रियों हाथी के किनके संस्कृत को लिखने की भी क्षमता नहीं तो संस्कृत बिगाड़ना कहां से बैठे बड़ा कर रहे हैं अभी हमारे लोगों में वो सामर्थ्य गौरव ममा अंगानी आप क्या है मेरे सारे अंग जो है ना कौन के जो चाहे गिरा कर जंत्र के सर्वांग इंद्रिया तब गिरा गया वाणी शुद्ध उच्चारण करने में सक्षम हो जहां वाक केवल प्राण आ गया है इसलिए प्राण को वो प्राण नहीं लेना है विश्वास स्वयं को ही ग्रहण करे क्यों दुर्गम को ग्रहण करोगे तो क्या होगा दिमाग में तमुगुण हो जाएगा कल कर्म ग्रहण करोगे तो रजुगुण पड़ेगा सुगंध ग्रहण जो तो सत्य इसलिए घ्राणेन्द्र मेरा सदा सुगंध ग्रहण करके चक्षु चक्षु सदा दिव्य मूर्तियों का दिव्य जो है संतों का श्रेष्ठ चीजों का ही दर्शन करें श्रोत्रम और यह श्रोत्र सदा ही वेद परिषद का श्रवण करता अथे बलम और हमारा जो सामर्थ्य है शारीरिक सामर्थ्य भी ब्रह्म को धारण करने योग्य ब्रह्म चरित का धारण का योग्य बल होगी इंद्रिय निर्बल हो जाएगी तो ब्रह्मचर्य टिकेगा दया खा रहे को रक्षा करने के लिए और देखे हो पा रहे अरे नारी को पुष्ट करो ना शरीर संस्थान पुष्ट जब तक नहीं होता तो ब्रह्मचर्य शरीर संस्थान जैसे कमजोर करेगा तो गया तो शरीर संस्थान को तो पुष्ट करना कितनी मोटा तगड़ा हो जाती है ये भी पहुंचे हुआ सारा गुब्बारा भी जोड़ दिया ताकत होनी चाहिए इधर भला भी नहीं तो कुछ गिना कर कहते हैं इंद्रिया सर्वाणी इंद्रिया नीचे सर्वानी इंद्रियाणी इन सारी इंद्रिया और अन्य इंद्रिय संबद्ध सफल अंग मेरा जो है पुष्ट हो ब्रह्म विद्या को धारण करने योग्य हो जाएंगे सर्वम औपनिषद ये इदम जलम जगत जो जगादृश कारण को मिटाने के लिए कह रहे हैं इन संपूर्ण जगत है क्या उपनिषदों में कथित प्रतिपादित उपनिषद वेद एकमात्र उपनिषद वेद है अन्य कोई साधन से विद्य नहीं है ऐसा ब्रह्म साक्षात स्वरूप आत्मा ही यह सब कुछ माह ब्रह्म इतने मैं ब्रह्म से जगत में किसी का भी निराकरण न करूंगी मैं ब्रह्म का निराकरण न करूंगी और माँ दूसरा जो माँ है माँ माँ दूसरा माँ माम को माँ देश शिवा होता ना माँ को माम को माँ हो जाता है ए में एक ए मया श्री सत्ता माती है दृष्टान यह है के आदि के अव्यवाद पदादि पादादि में नहीं होता अपादादी माँ भी और पहला लमा इतने निषेध अर्थ वाला है दूसरा लमा माम माम स्वब्रह्म की मां निराकर मैं जैसे तो ब्रह्म निराकरण न हूँ करूँ उसी प्रकार से ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करूँ क्योंकि तो जब आत्मा का वर्ण करता है वह आत्मा उस जीव का वर्ण कर लेता है यमेन रहते स्वामी विलीन रहते जो इस आत्मा का वर्ण कर लेता है उसके प्रति वह आत्मा अपने आप को खोल अपने स्वर को प्रकट कर इसलिए अगर मैं उस आत्मा का वर्ण करूं और आत्मा मेरे विषय कर लेता क्या होगा मुझे तो यही बात होता है लड़कियां जो है लड़की को निषेध कर देते हैं ये लड़की अच्छी नहीं है अच्छी नहीं है काली है पीली है हरी है वही है ये है वो दुबली है वो मोटी है कुछ नहीं बात तो चलती हो जाती कोई मोटी नहीं जो होगा वही भी लड़की नहीं होता लड़की को अरे तो हॉस्पिटल कुछ नहीं है इसलिए अच्छी नौकरी नहीं है वो नहीं है ये अन्य करके अरे जो मिल जाए वही वही तो हम भी इसीलिए कल मैं जिसको वर्ण करूँ तो मेरा निषेध न करें मैं ब्रह्म का निषेध न करूँ और ब्रह्म मेरा निषेध न करें और हम दूसरे दूसरे के होने के अज्ञान के कारण से भेद था उस भेद के कारण हम अपने एक दूसरे को निराकरण करते रहे जब हम अधीन नहीं है और हमने वह इसको समझकर मरण कर लिया है इस ग्रहण के साथ को अचल मेरी प्रार्थना है कि तो वह ग्रंथ मेरे को ग्रहण करे मेरे को स्व अग्नि रूपेण अनुभव का ऊपर प्रत्यक्ष अप्रोक्षानुभूति हो जाए ऐसी प्रार्थना है अनिका अनिराकरण वस्तु अनिराकरण दो बार इसमें आदर पर प्रार्थना है ना बारम्बार निवेदन करना कोई दोष नहीं है ईश्वर प्रतिभाना वह सूत्र एक होते हैं जितने मात्र ईश्वर को प्रणाम करोगे उतनी तेरे अहंकार कब के जाएगा ये मैं समझ में आती है मेरे से तो और महान ताकि अहंकार को दबाए रखने के लिए भी जरूरी है इसीलिए आचार्य जो शिवाजी महाराज थे जो शिवाजी आश्रम बने उनके स्वभाव बहुत ही है किसी को भी अपना पार छोड़ना रूप बना का दिन छोड़ करके अन्य किसी भी दिन उनके कृपा छोड़ना अभी जो ग्रस्त है चाहे कोई भी शिष्य भी आ जाए अपने संन्यास दिया हुआ आया शिष्य को लेने के लिए संन्यास लेने आया उसका छू हाँ। अभी अज्ञान भी है सही बात तो हमारे लिए तुम इसका कोई प्रधान भाव ऐसा था कि सब को ही कोई चिदान जी में भी चिदान जी में भी प्रकार तो उनका कहने से तरफ नहीं कहे हमारे गुरु जी हुआ प्रयोग गुरु के बारे में उत्तर जिसने था उन्नीस साल की उम्र रहा जो घर छोड़ के निकला बिल्कुल सदगुरु बिल्कुल यहाँ आया लोगों ने कहा कि ऋषिकेश में सिद्ध महापुरुष अध्याय के धाम को नीचे छोटी सी कुटिया में मुझको दवाई दान की डॉक्टर जी थी दवा तो देते थे महात्मा करा से पीछे से आए देखा लाइन लगी हुई मेरी लाइन में खड़ी हुई लेकिन महाराज जी जानते सिर्फ मोट के इलाज सिर्फ दवाई के लिए नहीं है बुद्धि की परीक्षा के अंदर आप क्या रहना चाहते हैं तो भगवान मेरे जो देर आ है लाइन लगी या समझ लिया किया है तो जिसको दवाई दे रहे थे उसको निपटार करके तो सीख रहे थे उसके सीधे सीधा ये कल्याण की उसको जवाब दे रहे है हाँ। और पहले नीति थी नीति यहाँ से न्याय देते हैं जब उन्होंने बना मेरे क्या सोचते थे उनमें क्या सुना था हमने इसकी लाइन मैंने पहचान लिया जबकि रोगियों को लाना नहीं इतना लगा मैंने जब जब प्रजा जब काफी देर तक देखा कि तो उसके बाद मेरी देवी को निपटाने के बाद छोटे से देखा बैठा तो बिना संन्यास का नाम बोल दिए यह सत्यम क्या कर रहे हो उसने सुनी किसी और को पता नहीं तो रुटे भाग के जो सत्यम तुम सत्य हो यही सत्य हो तुम सत्य आरंभ हो तुम आरंभ हो सत्य तो <coughs> तुम झूठे चक्रों में घूमते रहे तुमने सत्य को जाना ही नहीं जहाँ सत्य और झूठ नहीं स्नान करो गंगा जी तेरे बुद्धि से मेरा ये देखना शुरू बारह साल तक उन्होंने गुरु से ये नहीं पूछा मुझे क्या करना है क्या समझना क्या जितनी क्या कितनी आदेशन ये करो तो कर दो काम हिंदू ही ना कर उस काम कर व्यक्ति सिवा तो में कुछ भी जीवन हमारा काम पूरी की करें नहीं सावधानी फर्स्ट इसे है मैंने मैं पूछा गुरु से गुरु ने मेरे को बचन दिया आसन करो उपायन करो अमुक जाप करो कभी मैंने कहा न मैंने दस बारह साल होने के बाद उनको बुलाया था मैं तुमको अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ आश्रम और मैं प्रेम कहा महाराज जब तक मुझे स्वरूप अनुभूति नहीं होती तब मैं कोई फल करूंगा जाओ जंगल आश्रम बड़ी स्वरूप अनुभूति जाओ चले गए तो समझना चाहिए कि गुरु किस प्रकार की कृपा करता है गुरु ही गुरु साधना का पीछे गुरु का पीछे साधना के लिए मन पड़ो चाइना में सबसे प्रसिद्ध काम है गुलरी का निर्मलता की कहानी होती है इसलिए कह रहे हैं कि अंगों को पुष्ट वहां मुझे निराकरण न करे बार बार प्रार्थना क्यों है निराकरण न करे करे मुझे साधना सिखाए गुरु वो निराकरण मुझे स्वीकार कर लेते हो गया काम स्वीकार किया गुरु ने हृदय से विशेष का उद्धार हो गया काम खत्म हो गया अपने आप अंदर से सर्व ज्ञान सर्व साधन सारी चीजें कोई चीज का भाव नहीं विनय कहती गया वो हाँ गुरुदेव कुछ आदेश तुम्हें गुरुदेव ले लिया बाल खत्म हो अपना और सोचना है चाहो मेरे लिए झोंपड़ी बनाओ पेड़ के नीचे बैठे कुटिया बनाओ घुमा गया देखा अरे क्या बनाया तुमने ठीक नहीं पेड़ बनाओ लेकिन न्याय रखना जिन पत्थरों से ये बनाया है इन्हीं पत्थरों में पहाड़ के बीच बीच में वहां बनाओ एक पत्र गया उनको दिखाई दिया सारा दिन अरे वही यहाँ से पानी धुल रहे कौन क्या पानी के छोटी हुई हवा फ्लैश आएगा छोटी काल जैसे पतंगे कूदने नहीं चारों तरफ से होनी चाहिए मच्छर नहीं हो कोई चित्तल ना करे जुम जाग ना आवे कोई भी उगा विकास बना तो बगीचा बनाने में धोरे भी लगता है तुरंत मिल जाएगा कल के बना के करीब छह साल करीब तो कितने का रहेगा गौर बनाना सब कुछ मेरा नीचे जहाँ बैठा था वहीं आया घूम रहता गुरु जी बैठे रहते है गुरु तो गुरु गुरु गुरु शिशु का शिशु का गुरु तुम्हारे शिशु तो का बना है तुम्हारा नहीं है समझ में नहीं फिर उन्होंने गुरुदेव के लिए बनाया तो तो मेरे शिष्य को दूर नहीं तो शिष्य के लिए बना यह मैं ही वही तू है जो तू ही सुना जो बिल्कुल बैठे समझना चार दिन दो रहेगा ये चरण पूरे इनका चाहिए और जो कुछ है क्या और इसमें तो कौन साधना सिखाया उन्होंने कौन सिखाया कैसे से पूर्ण जागरण होगी कैसे ब्रह्मांड का अनुभूति हो गया स्वरूपानुभूति हो गया था कुछ है ही नहीं हम मैं तो रहा ही नहीं मैं मान बेटी खत्म जो कुछ है सुखी है तो इसीलिए हमारे अपेक्षा करेंगे गुरु से कुछ सीखने की अपेक्षा नहीं पढ़ाई अपेक्षा नहीं करना है वो मेरे को किसी भी दशा में निराकरण न करे अनुराकरण अनुराकरण इतनी अपेक्षा है गुरु से ब्रह्म से आत्मा से तो मेरा निराकरण मैं शरण में आया हूँ और मैंने निराकरण कर दिया तो भारत में स्थान नहीं ने पर त्याग दिया तो कोई इसी रामायण में आता है देखो जब वो बन रहा है पुलिया पुलिया बन रही थी श्रीलंका जाने की लंका से तो सभी राम विकलित करके जो पत्थर को डाल देखे पत्थर पर भगवान राम ने भी सोचा कि मेरी मानी इतनी महिला है तो मुझे भी करनी चाहिए देखनी तो सही और वो लेकिन कभी गड़बड़ा जाए तो डर के मारे बुद्ध दूर दूर जा करके सब बंदर लगे थे काम में लोग लगे थे देखना पावे और चुप को सब राम दिखाऊंगी और जैसे को जरूरी हम हनुमान जी काज है भगवान के साथ तो है जो हस्तक आज मुझे बना किसी देख लिया गड़बड़ा हुआ इसका तो मैं तुम्हें हल्ला लेता बदलाव करेगा नहीं भाई बदलाव नहीं करेगा सब इसका अर्थ हम बता रहे और राम को नाम या रखिए यदि आपको राम क्या देता है तो नाम भी आपके लिए काम नहीं होगा हम तो जितने लाल गुरु की पूजा करें लाल गुरु की सेवा करें यदि गुरु ने अपने हृदय से प्यार दिया तो उसका तो कल्याण और सुधार कर लिया उसने हृदय से नाम की भी जरूरत नहीं है वो अपना क्या है नाम की भी जरूरत नहीं और संसार तो के पर यह भगवान प्रैक्टिकल कर दिखाया भगवान क्या गुरु तो है जगन देवी गुरु तो भी आत्मा इसलिए आत्मा जिसको क्या है वही नहीं करे निराकरण कर दे वो क्या होगा दुख जाए और आप जिसका तो वर्ण कर लेता है नाम ले या न ले तो चल रहे इसलिए यहाँ बार होते हैं अनिराकरण अनिराकरण तदात्मनिरत परिषद सुधर्मा ये नहीं संतुष्टे ये पदार्थ एक बात कहता है इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण है इतना ही नहीं जो उपनिषदों में जो उपनिषद थी ये धर्म उपनिषदों में जो धर्म कहे नहीं हैं वे पर तब आत्मबोध से आत्मबोध में ही जो निरत्व लगा हुआ है ऐसा जो मुझके लिए वे सब के साथ ते धर्मा नहीं समझो वे सब धर्म मुझ में होंगे वे सब धर्म मुझ में होंगे इसलिए बांध रखता क्योंकि जब तक औपनिषद उपनिषदों में कहा हुआ जो धर्म है समुद्र में चिकित्सा विषय संपत्ति विवेक निराम सब संपत्ति नक्षित तो साधन प्रति से जब कोई व्यक्ति संपन्न नहीं होता गुरु भी प्रति को नहीं कर पाता ग्रहण करने के लिए तो अपने भी योग बनाना पड़ेगा जैसे जल में रखना है कहा पृथ्वी के पाया में कैसा फुट अस्सी फुट सौ फुट तीन सौ फुट नीचे तक भी रहता था तो कैसे तुम खा कितनी मेहनत करना पड़ता है एक फुट खोलने के लिए मशीन वाला दो हजार देना होता है एक फुट गड्ढा खोल पचास फुट खोदा जितना लाख रुपया तुम दोगे तब पानी तेरे हाथ में मैंने हमने जल को ग्रहण करने के लिए पृथ्वी को उस योग्य बना लिया ताकि हम जल को ग्रहण कर सके उसी प्रकार गुरु शिशु ग्रहण करना चाहेगा तो शिष्य को गुरु के पीछे जो गया तो पीछे उतनी योग्य उसको बना लेना पड़ेगा पाइपलाइन तो मंत्री पड़ेगी पाइप भी खेचना तो तो है वही अपने वही साधु श्रेष्ठ वही ऑपरेशन होना यदि हमारी प्रार्थना रहेगी कि गुरु हमारा निरंतर न करे इसके हमें क्या करना पड़ेगा तो परिषदों में कहा वतरण है तो सारे धर्म निजी में हो गए निज में हो गए ताकि गुरु जरा निराकरण न करें और मुझे ब्रह्मानुभूति हो जाए इस लक्ष्य से ये प्रार्थना बहुत दिव्य प्रार्थना है नित्य स्मरण कर योग्य प्रार्थना अब समझ कर प्रार्थना करेंगे आदमी का हृदय की नवस्य अध्याय से आरंभ कल हम बता दिए थे सामने का सर्वकार शाखा का ग्रंथ है जो कुल नौ अध्याय है नव अध्याय में से शाखा के आठ अध्यायों में कर्म और उपासना स्वयं भास्कर कहते हैं प्राप्त एक स्नान ग्राम अध्याय से पहले इस में उपरिष्ठ परिषद क्या है कर्माणी अशेष समस्त कर्माश्रय भूत प्राण से उपासना उत्तानी कर्मांग स्वाम विषयानी क्या क्या कहा गया है तीन बातें विस्तृत संचार हो गया अशेष कर्माणी समापिता पूर्ण रूप कर्म और कर्म संबंधित सारी विधेयक के बारे में कथन कर दिया गया है ब्रह्मे समस्त कर्माश्रय भूत से प्राणस्य कर्म का आश्रय होता प्राण की उपासनाओं का भी कथन कर दिया गया और कर्मांग भूत जो सार है उनके विषय उपासना का भी पंचवी काम सप्तविध साधन का वर्णन और उपासना कथन कर दिया गया है पंचवी काम पांच अलग होता है एक शाम पहले शाम में कम से कम पंच विभाग करके उसको जाया जाए पांच भागों में विभक्त करके जाया जाता है अगर सात भागों में कर दिया जाए तो सात भक्ति कहते हैं पांच भाग का नाम पहला का नाम स्वीकार दूसरा प्रस्ताव स्वीकार प्रस्ताव और ये पांच चीजों यही साथ नहीं अभी करनी तो दो और जुड़ेंगे यहाँ एक जुड़ेगा आदि और यहाँ एक जुड़ेगा जो नाम उपजोड़ा जो पान को लेकर चलते हैं उनको पांच भौतिक स्थान कहा जाता है और सातों को लेकर चलेंगे तो सात भौतिक स्थान गायन की विलक्षण प्रक्रिया है किस तरह से तोड़ना है कब तोड़ना है कहाँ रुकनी है क्या जोड़ना है सारी चीजों को जैसे संगीत में भागों में होता है उसी प्रकार तो इसलिए कहते हैं कि देखिए कर्मानुभूत जो शाम है तब विषय का विषयानिच्य उपासना नित्ता उसका समन्वय कर लेना जिसके शादी में प्रसिद्धि भी आप देखेंगे पांच फुट सामूह का सात फुट सामूह का उपासना का वर्णन वहां पर विस्तार से सर्वम अनंतरम च गायत्री दर्शनम वंशांतम उत्तम अनंत उसके बाद अगर क्या किया गया है गायत्र शांत सांशक विशेष रहस्य को दर्शन को प्रमाण किया और वन शांत वन शांत जो गुरु परंपरा होता है कौन किस ऋषि को दिया कैसे कैसे आया हुआ है परवर्षियों के बगैर वो सारी परंपराओं का जो है हमारे कहने योग्य बात नहीं है कौन शांत और सर्वम लेकर यथोत्तम सर्वम ये सारी चीजें मन सभी प्रकार की और यथोत्तम कर्म ज्ञान का मतलब यथोक्त जो कर्म और यथोक्त जो ज्ञान ज्ञान में उपासना ज्ञान से उपासना ये दोनों के दोनों अनुष्ठित निष्ठान से मोक्ष सत्य शुद्ध धर्म देखो तुम्हारा संशय करने वाली यानी सारा कर्म और सारी उपासना तो योगिक क्रिया हो तो कोई भी कर्म शास्त्रीय हो ये नहीं हमें देखना है कि कर्म का विश्वास भाई कर्म से कोई भी कर्म चाहे मानस चाहे अंत शरीर चाहे बाह्य शरीर क्रियाएं उपासनाएं शास्त्र सम्मत होनी चाहिए वेद सम्मत होनी चाहिए स्मृति सम्मत होनी चाहिए वो अंतर्कण शुद्धि के लिए ही हुआ करता है कर्म से ज्ञान क्या सम्यक दृष्टितम निष्काम से वो चले होगी ये स्थान भावना यदि मनुष्य अनुष्ठान करता है तो सत्य शुद्ध होगी सत्य शुद्धि होगा जी आ रहा है इसीलिए वेदांत अनुभूति क्यों हो रहा है लोगों को बहुत पहले थे फिर उनको भी संचालित करें पता नहीं माया खबर आएगी क्या ये महात्मा था सारा वेदांत हमारे साथ सुनते रहे आनंद जी महाराज जी सत्य सुनते रहे तो पूरा हो जाने के बाद में महाराज जी ने कहा कि कोई संशय तो पूछे उन्होंने कहा कि भाई महाराज सब कुछ ठीक है लेकिन जिस प्रकार से कि काल में कभी ने माया को माया ने जो है कभी ने कभी आत्मा को आवृत कर लिया था उसी प्रकार से हो सकता है भविष्य में दोबारा होगा भक्ति के बाद दोबारा हो सकता है आप क्या गारंटी देंगे किस आधार पर सिद्ध करेंगे कि ये दोबारा नहीं होगा तो स्वामी जी सीधी सी बात कहा देखो कि आत्मा का जब प्रकाश है ना तो सौ दो सौ आठ का बल नहीं अंकित ही नहीं जाएगा दोबारा अंधकार आ एक बार के अंधकार को लाइट ने दिखा दिया अगर लाइट ठीक होगा तो दूसरा अंधकार आएगा नहीं और ये कोई सौ बार दस बार बदल जाए क्या किसने सो जाएगा दोपहर अंधकार आ जाएगा अरे तो नित्य स्वास्थ्य प्रकाश प्रकाश है एक बार प्रकाश आपको खुल जाए तो फिर उसके बाद को तो अंधकार में कुछ नहीं होता दो बारा मान गया मानना कुछ नहीं ये आगे प्रकाश में आ जाए ये आवरण हटे अनुभूति हो उसके लिए कहीं तो आप तक कर शुभ करना जरूरी है कि दर्पण को जितना साफ पकड़ गए उतना का तो बिचारा साफ दिखता है उसके अंदर तो छोटा सा दाना भी हो क्लियर जितना उसके अंदर धूल चढ़ा है गंदगी है धब्बे हैं तो उधर गगड़े पीछे का उतना में आपको तो बेचारा सुन सभी को अपने आत्मा का अंदर हो रहा है इससे नहीं हो रहा मैं हूँ बोल रही नहीं बोल रही कहाँ से बोला मैं हूँ सो बोल रही मैं हूँ तो है ही तो भूल भी उनमें ही चल रहा है उसके कारण वो सामान्य प्रकाश है इसमें कोई संशय नहीं लेकिन स्पष्ट अनुभव में नहीं आया जब भी अनुभव में हमने किया अज्ञान सहित ही अनुभव अज्ञान वही अनुभव नहीं किया शुद्धि में भी अज्ञान रूपी आवरण को लेकर के जिसने लगा वही विचार और भी कैसे वही भी कुछ अज्ञान रूपी चावल और कैसे अनुभव करना चाहिए पुलिस लोग चाहते हैं कि जो समझ समस्या होता है कि जैसा कई आश्रमों में वेदांत अध्ययन होता है तो क्या कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं वेदांत श्रवण करो तुम ब्रह्म ज्ञान तो कुछ करो तुम आगे सुनने के लिए यही हो गया काम खत्म ऐसा क्योंकि यहाँ आने मात्र से आया अंतकरण परिपक्व शुद्ध है कोई जरूरी नहीं दुकान से कोई चीज खरीदिया लाते हो तो जो लिए थे उनको साफ है लाने के बाद क्या करोगे आप धोते हैं बर्तन है फिर भी आप धोते क्यों सब्जी है धोते हैं फल है धोते हैं तब आपको क्यों है आगे आगे आचरण है कोई धो गया खाना पीजिए नहीं चावल नहीं लेंगे हर चीज कभी नहीं करेंगे शुद्धिकरण करते हैं इसलिए जो मेरे पास आने के बावजूद भी उसके अंदर अभी नहीं है फिर आने में जाने में कारण हो सकता है आया हुआ चीज में भी दोष हो सकता है इन सबकी सफाई के नल के आने क्या करते शास्त्र का खाते वक्त तो भगवान का नाम लेते हैं दूसरों की सोच के लिए अंतर करना वैसे करेंगे तो जैसे खाया वैसे करेगा तो इसलिए सारा विधि विधान क्यों किया गया जितना आप का शुद्ध करेंगे स्मरण का तत्काल बन नहीं मनन करते रहो निज्ञासन करते रहो अनेक जन लगा दोगे तब जगह तभी अनुभूति हो जाए तो भरोसा बुद्धि में ही शाब्दिक अर्थ स्थिर रह जाएगा सत्तानुभूति नहीं हो सकता आगे भी कृष्ण विचारवान है पक्षी है समझना जानते हैं समझ नहीं शब्दार्थ अनुभव नहीं क्योंकि दर्पण जैसा भी होगा आप तरफ तो लगाए देते हैं खराब है जैसा भी दर्पण है छेद छेद हो रखा है तो भी आप अपना काम से तो निकाल लेते नहीं निकालते इसलिए श्रवण तो हो जाएगा चलो आपका हमको भी पैसा भी कोई तो चाह होगा तो सत्य मैं भी सुन लिया हो गया श्रवण तो हो गया श्रवण मरण आधार क्योंकि ये तो बुद्धि की कुशलता मात्र से मतलब रखता है पर असंभव शुद्ध अंतकरण के बिना निरुद्यासन असंभव इसके लिए कहा जाता है भाई योग करो कर्म करो नित्य पूजा पाठ ध्यान जप सब कर इसको पचास बार बोलेंगे ठीक है कर्म और ज्ञान एक साथ तो नहीं हो सकता तो कर्म के लिए जब हो जाएंगे जब ब्रह्म ज्ञान स्थित हो जाएंगे अनाथ कर्म नहीं करते और जिस तो गुरु नहीं है तब तक तब तक कर्म नहीं पड़ेगा उसके बिना शुद्धि नहीं होगी समझ नहीं आएगा बुद्धि में दृष्टि को अग्रह बुद्धिया न मतलब केवल बुद्धिया निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कि तो शुरू से धारा अनुचिता लेकिन अभी उनको छुट्टी मैंने बताता कठिन मार्ग है जब तो लोगों के बात समझ में नहीं आती है कर्म का कर्म करने लगे तो करने की जरूरत है रखते रहो रखते रहो भाषावार कभी नहीं कहते हैं आप मुमुक्ष हो गए ठीक आप जो है वेदांत पढ़ने लगे आप सब कर्म त्याग दो उपासना त्याग दो ऐसा कहीं तो नहीं तो यहाँ विशेषण क्या है मुमुक्ष होने के बाद फिर काम रहोगे तो कोई भरोसा नहीं विशेषण है निष्कावश्य मोक्ष ये नहीं कह रहे कि हम मुक्ष को करना चाहिए अगर गांव और विरासी का मुक्ष को करना है कर्म और उपासना निष्ठा बात है ना इतनी नित्य में बात है कर्म करने की जरूरत वो तो कहीं विरुद्ध होने कलरी आदेश वाक्य समाज में क्या करना पूरे बच्चे का विद्यार्थी से ब्रह्म ज्ञान ले लो उससे कर्म करो और कहा कि नहीं हो सकता ज्ञान जो उत्पन्न हो गई उसे अभी नहीं करती और कर्म कैसे होगा मुक्त स्थिति अलग है जो कर्म ज्ञान विरोध की बात बता रहा है वो तो मुक्त अवस्था में और लोग इसे क्या करते हैं शुरू से लागू कर देते साधक अवस्था में और काम पकड़ दो साधक अवस्था में कर्म ज्ञान का कोई रोग नहीं क्यों इस समय जो आपके पास ज्ञान है तो परोक्ष है अप्रोक्ष नहीं और परोक्ष ज्ञान का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है उपरोक्ष परोक्ष ज्ञान भी अविद्या पूर्वक है कर्म भी अविद्या पूर्वक होने के नाते कोई विरोध नहीं होता अपरोक्ष नहीं भी अपरोक्ष ज्ञान का ही कर्म विरोध है इसी तथ्य इसी राशि को बना बताने के ज्ञान का क्या विशेषण करे निष्काम से मोक्ष को करना है कर्मोपासना निष्काम भावना से करेगा तो उसे क्या होगा अंत शुद्ध भवती अपने अपने वर्णाश्रम अनुसार प्राप्त जो नित्य निमित्त कर्म है नित्य निमित्त गुताहरण तो, तो करना ही चाहिए इनके बिना वेदांत श्रवण केवल बौद्धिक सरसाई बुद्धि का शाब्दिक अर्थ जाल को आगे समझा लिया पंडित हो गए लेकिन आग्रह ज्ञानी नहीं उसका नाम है ये कर रहे हैं ये ध्यान रखना ये आपको अनुभव करना लक्ष्य है तो नींद कोई बात लो सुन ही रहे हो को भूल जाएगा जगह प्रवचन करना आ जाएगा पढ़ने से पढ़ने दुनिया भर लोग हैं उनकी कथा होकर पुस्तक पढ़ लेना और बढ़िया से बढ़िया कभी तो इसके लिए नहीं कह रहे भाजिका जो कह रहे हैं जिसके अंदर मुमुक्षा है और कोई काम नहीं निष्काम से मनुष्य आश्रम बनाने की कामना प्रवचन करने की कामना कथा करने की कामना महंत मंडेश्वर बनने की कामना नवीन में नाम कमाने की कामना कोई लोकेशना रितेशना पुत्रेशना तेजेशना ऐसे मनुष्य को भी करने के लिए कहते ताकि वह बुद्धि इतनी निर्मल हो जाए इतना विशुद्ध हो जाए कि वो ब्रह्म प्रदा स्पष्ट अनुभूति और बाकी के लिए सकाम जो कामना है उसके लिए क्या होगा ज्ञान रही बस उपासना की नहीं जरूरत नहीं क्या भी उपासना करनी श्रोतान दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ति पुनरावृत्त ऐसा व्यक्ति के लिए तो श्रोत कर्म अनुष्ठान करें स्मार्ट कर्मों का अनुष्ठान करें दक्षिण मार्ग प्राप्त करते हुए पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं पुनरावृत्ति भगवान और इससे जो घटिया बन रहे हो तो जो बात ने शास्त्र स्मर्थन तो क्या हुआ अशास्त्रीय प्रवृत्तिया पशुवान धारणाम को अधोगति अगला प्रश्न क्योंकि हम केवल परिभाषित करेंगे पहले परिभाषा में निपटाएंगे फिर बाद दोबारा के प्रश्न चलेगा वाक्य होगा इसमें पाठ्यभाषा में देखा जाएगा यहाँ पर दो या है तीन या बड़े नंबर दे दिया है दो चार पढ़ना है दो चार छह आठ दस नोमिना है परिभाष्य देखकर परिभाषी लगातार एक तरफ वाक्य भाषा लगातार और इसलिए यहाँ से का वहां जाना है वहां ऊपर नहीं पड़ना है अशास्त्रीय प्रवृत्तिया परिश्वादी सावरांता अधोगति ऐसे कि देखो परिश्वादी से सावरांत तो पर्यंत जितनी भी है ये सब अधोगति नहीं वो अधोगति प्राप्त वादवती आपको प्राप्त होगी जो कौन होगी जो कि अशास्त्रीय स्वाभाविक प्रवृत्ति में लगा हुआ है वो गर्म लग रहा है वो भी उपासना कर रहा है लेकिन मतलब गलत काम अशास्त्रीय है ना ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता है जिसको कोई शास्त्र नाम नाम कुछ नहीं है कलभरा कर रही और ये जो है पूजा पाठ में लगा हुआ वो अशास्त्रीय पूजा पाठ है करते रहो भी कर लेकिन वह अपने स्वभाव से अपनी बुद्धि की न्यूनता के कारण से या मंदता के कारण से उनको क्षुद्र चीजों को लेकर व्यवहार करती तो चीजों को लेकर व्यवहार ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके लिए कहते पशु से लेकर स्थावर प्रयोग की जो वो व्यक्ति वो होगा और फिर तो योग न न चलो आयुमान भूदान भवन की गाय से तृतीयम स्थानम पांच दो साठ और हरी जगह पटोर नखतरी में चला ये जो दो मार्ग है कौन उत्तरायण मार्ग और दक्षिण मार्ग इन दोनों में से कोई भी मार्ग उसके लिए नहीं है न कतरे न चलना इनमें से कोई मार्ग उसको अभी कतरे ना भी न एक भी नहीं हो सकता इन दोनों में से पान ईमान क्षुद्र अशुद्रता और तीन भूतान नहीं थी उसे कहते हैं एक तो क्षुद्र है का असुप्रदावृत करने वाले बार बार एक तो हर मौसम में पहला वाला मर जाते और बरसात के समय आप देख सकते हैं लाखों कीड़े पैदा हो जाते लाखों कीड़े पेड़ का रंग बिरंग सुंदर सुंदर कीड़े ऐसा ऐसा विरक्षण की देखते रह जाएंगे क्योंकि विशेष का प्यार होंगे पेड़ पौधे खूब भोजन में उठा हुआ हम सभी देखे पग पग पग एक अंधार वो एक धूप पड़ा नहीं सकता बार बढ़ जाएंगे बढ़ देंगे असुरी आवर्ती में भूतारी हम भी इधर उनको क्या कहेंगे जाए सुनो जम गया मरा जुलम गया मरा कुछ कोई लोग नहीं आएगा कहीं नहीं आना वाला उसका यही अगर बार बार जन्म देता है रह जाए चलती है पर ये तीसरा मार्ग है इनके लिए जिनकी स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है और केवल कर्म करेगा दक्षिण मार्ग में केवल उपासना करेगा तो दक्षिण मार्ग में कर्म समुचित उपासना करेगा तो उत्तरायण मार्ग क्रम मुक्ति पाएगा और निष्काम भाव से बिल्कुल मोक्ष के लिए इच्छा करते हुए कर्म उपासना करेगा उसका अंत शुद्ध पर यही ब्रह्मानुभूति करेगा कि जीवन में व्यवस्था शास्त्र की समझना चाहिए प्रजाहत ऐसे लिखता है दो एक एक चार दो एक एक चार दूसरे अरण्य के प्रथम मंडल के प्रथम महा यह है अनुवाद का चौथा दो एक एक चार प्रजा पित्रो अत्यायम हो प्रजा मैंने कौन प्रजा जरायु जो अंडज उद्विज रचना जरायु जो अंडज उद्विज रचना स्पष्ट चित्र है पुनर्जायंत निर्यंत चित्र तिस्रा प्रजा हो गति तीसरा गति प्राप्त कौन भी चित्र चित्रया देयान लक्षण मार्ग संयम दय गमन अतिथ्य कष्टानुग गति हो प्राप्त है आनंद का स्पष्ट करते हैं इसलिए प्रकार को पुनः तिसरो ये प्रकार कौन कौन जरूर अंदर जो भी जाति होते जितने भी जीव हैं ये सब के सब मार्ग दक्षिण मार्ग और इन दोनों के अतिक्रमण कर तीसरा अत्यंत कष्ट कर केवल जन्म मरने वाला ये मार्ग इनको प्राप्त होते हैं जैसे तीन मार्गों का प्रमाण भी है मंदिर परिणाम सत्य सोचो यही विशुद्ध सत्य वाला है उसकी बात हम विशुद्ध अंतर वाला है निष्काम बाह्यात अनित्या संबंधात यह कृपा पूरी कृपा का संस्कार विशेष भवाद प्रत्यवाद विषय जिज्ञासा निषेध दंड करने वाला है फिर है निष्काम तक करने वाला निष्काम तक करने चाहे निष्कामता बाह्याद अनित्यासा जिसका संबंध यह कृपा इसी जन्म में बाह्य जो अनित साधन है योगादि शरीर चक्र साधन सब जो है इनको लेकर के अनित्य है अगर मतलब शरीर मर जाएगा जैसे हमको आराम कर रहे गुजर रहेगा अनित्य साधन है और जो प्राप्त नहीं होती तो है अनित्य ही है ये साथ ही साथ सारा अनित्य है इनके नाम जीवन पी दिया अंतर को शुद्ध करेंगे याद उतना किया इन अनित्य साध्य साधनों के माध्यम से हम अपने शरीर को बुद्धि को अंतरकरण को पवित्र पवित्र विशुद्ध करेंगे ये जरूरी किया होगा अनित्य साध्य साधन कर्म रूप आक्रांत हमने शुरू कर दिया इच्छा है किसी की की फोटो हो पूर्व प्रकाशना फिर जन्मों में दिया आप भी कह रहे कि हमें जन्म करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं हमने पूर्वजन्म में किया और किया हुआ है या नहीं हुआ अपने आप को देख लें ठीक पूरी रहा संस्कार विशेष उद्भव पूर्व तो संस्कार विशेष रूप होने से भी विरोध पक्षी है पता चल जाता है अपने आप को कि आप दिन कितना हो रहा है समझ लेना आप लोग कितने की है कर्म कितना उपासना है कितना काम तक का अशुभ है वो आप बच्चों को समझ में आ जाएगा कितनी वैराग्य है उसके आधार पर तय हो जाएगा कितने विषयों के प्रति आपके अंदर वैराग्य अगर बहुत सारे विषयों के प्रति वैराग्य है नहीं इच्छा भी विदेश उधर जाते हैं महाराज जा रहे हैं हम चले आए चलो इंसान को तो हो रहा मेरी इच्छा है आपके साथ तो इतनी भी कामनाएं दिखी रही है तो कहाँ पूर्व कृत जन्म के कृत संस्कार परम वैराग्य है बड़ा वैराग्य है ऐसे कौन सोच सकता इसलिए कोई कोई होगा रमन मैं श्री राम परम जैसे पूर्व कृतियों की वजह से ही उनको जन्म से ही हर चीज के प्रति विभाग है घर में बैठे हुए बात सुखदेव महाराज जी कोई कोई नहीं था सब थोड़ी भाषाकार इसलिए उत्पादन करे ऐसे नहीं कि है ही नहीं ये पक्ष बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है इसे जान के दिया भले ही संसार में दोचारी है लेकिन है ये भी पक्ष पूरी पूर्व संस्कार विशेष उद्भवा प्रतिघात विषय जिज्ञासा ऐसे लोग प्रश्न प्रतिघात विषय जिज्ञासा होती है लेकिन धीरे धीरे बता सकते हैं चित्त शुद्धि का हाँ अपना रहेगा कि कितना अपने आप करना देखिए वैराग्य कोई रास्ता अपने नाम का साधन अपना अंदर फ्री वैराग्य देखो स्वर्ग से आए हुए लोगों को पहचान बताया नरक से आए हुए लोगों को भी पहचान शास्त्र में बताया कि नया ज्ञानी का और वैराग्य का पहचान कुछ नहीं हम कितने हद में अपने अंदर मोक्षता का है इसके पहचान में कोई रास्ता नहीं पता डॉक्टर अपना देख लीजिए कितना आपके राज्य कितना नहीं है उसके अपना निर्णय ले लो भाई हम कहा तक पहुंचे हुए हैं क्योंकि ऐसा कोई योगी ज्ञानी ज्ञानी मिल जाए जो जो आपके आत्माओं तक घूस करके देखे क्यों देखे उसे क्या जरूरत हमारे गंदे खोल हुआ ना वो पूरा अचानक गुजर को चकी देगा क्या हो रहा अंदर तो कहीं नहीं घुसता हो गया हम बात आग लगा देते हैं जो है तो बर्बाद होता है अंदर के अंदर किसी निगरानी चाहिए है वो ड्रम भी वो अंदर में कोई अच्छी चीज मिल जाए तो जब पता है कुछ अच्छी चीज है ही नहीं कुछ भी पता नहीं है ज्ञानी ही ज्ञानी ज्ञानी होगा अज्ञानी का पूरे मन के अंतर पर पूरा ज्ञान है जाएगा फिर ये कहेगा तुम्हारी कितनी वैरागी कितनी है कितनी भरी हुई कितनी नहीं है उसको पता है कि कचरा मिला कुछ मिलना ही नहीं है और शिव अंदर इंसान में आ जाता है उसमें स्पष्ट भाव आएगा तो अंदर घुसने क्या जरूरत उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है बाहर भी बाधित हो जाता है इसलिए वैसे केवल तुरंत ऐसे गुरु मिल जाए जो मेरे को देख रहे हो मुझे अंदर घुस के बता रहे मैं तुम्हारे क्या घर बढ़िया है उसको ठीक करें ऐसे कहीं नहीं मिलेगा जरूरी नहीं ऐसे सोचा ही बेकार इधर अपने से पहचानने की कोशिश करो अपने अंदर घुसो अपने अंदर देखो क्या तेरा अंदर है कितनी वासनाएं हैं कितनी कामनाएं हैं क्या है क्या नहीं अपने आप के अंदर घुसते इसलिए शास्त्रकार ने करो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जब तक रहोगे अपना पहचान किसी को हो नहीं सकता रोज आना एक दो घंटा अंतर में ऊपर चुप बैठेंगे तब अपने अंदर के सारे कचरा सामने आएगा ये गंदगी आ जाता है रह नहीं सकता तो चुपचाप आप चुप जैसे होने लगे वहां खलबली मचती वो बाहर आने जिससे आप रात्रि सो जाते चुप हो जाते सारा लाइट एक बंद कर देती है क्या होता है छुरी निकलेगी आप तो चुप नहीं है आप चुप होते स्वाद मिलेगी भी तो सारा छतरी नहीं चलते घर में सब घूमना शुरू कर जितने भी है यार लाइट करो चले नहीं सकता अब चली जगह कहा चलिए गए सोलह किलोमीटर यदि आप जितना जैसे बाहर आपने देखना चालू किया बहिर्मुख जैसे ही हुए वो पता नहीं चलेगा तो कहाँ गए आप अंदर बंद हो रहा है चाहिए तो सब चलेंगे बाहर आपके मन में आने ये बनाए ये बनाए ये करो वो करो सामने मनोराज्य चलेगा और मनोराज्य जब चलेगा तो पता चल जाएगा आपके बात हर सामने आना अभी मनोराज्य को भंग करने के लिए तो फिर बैर में खाओ शास्त्र में लग जाओ मृत्यु करने के बाद इसको करो ताकि जो है मल निकल जाए पहले बताया जरा कि मल वाले की अलग विक्षेप वाले केवल विक्षेप वालों के मन अलग मन विक्षेप दोनों रहने वालों के लिए तो बहुत कठिन कारण और मन विक्षेप दोनों तो तेल आने वाला वो आसान है केवल आवरण हो बहुत तो आसान है ऐसी व्यक्ति के ही ब्रह्मज्ञा में आपस में मिल जाता आसानी से उसको वो सब मिल जाएगा केवल आवरण वाला उनका भान हो जाता है लोग को इसे केवल आवरण हो कोई विक्षेप नहीं कोई नहीं और मन विक्षेप आवरण से तो सदगुरुदेव बहुत दूर है उनको और गुरुदेव मिलेंगे तो दूर कोई नहीं